पूरे रूम में धुआं भरा हुआ था और आग की लपट उठ रही थी पहले तो मुझे लगा कि शायद अंदर कुछ लकड़ी वगैरह है उसमें आग लगी हुई है लेकिन अंदर जाने के बाद पता चला कि अंदर बैठे मुख्तार ने पेट्रोल का बैरल गिराकर आग लगा रखा था दरअसल वो खुद को आग में जलाकर मारने की कोशिश कर रहा था अगर मैंने उस दिन थोड़ी हिम्मत न दिखाई होती तो शायद हम हेडलेस फीमेल मर्डर केस के कतिल मुख्तार को कभी भी पकड़ ना पाते विक्रांत ने अपनी स्टोरी में थोड़ा और ट्विस्ट डालते हुए कहा जिससे वहाँ और मौजूद लोग बिना अपनी पलकें झपकाए विक्रांत के एक एक लफ्ज को बड़े ध्यान से सुने जा रहे थे लेकिन मैं किसी तरह से आग से बचते हुए अंदर गया वहाँ पहुँचने के बाद मैंने तुरंत ही मुख्तार खान की गर्दन को दबोच लिया फिर जैसे ही मैं उसको लेकर कमरे के बाहर आया तुरंत ही मेरी टीम मेंबर अनुष्का ने फायर एक्सटिंग को हमारे ऊपर चढ़ाकर हमें आग से बचाया आप लोग एक बार मेरी टीम मेंबर अनुष्का के लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए विक्रांत ने अनुष्का की तरफ इशारा करते हुए कहा एक बार फिर से पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा मैंने इंडिया का सबसे बड़ा serial murder case headless female murder case सिर्फ अकेले ही नहीं सॉल्व किया है बल्कि इसमें मेरे सभी team member Lucknow police forensic team सबका योगदान है इन सभी लोगों की बदौलत मैंने ये केस सॉल्व किया है सबका योगदान है इन सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां विक्रांत ने खुद अपने हाथ से ताली बजाते हुए कहा ऑडियंस रूम एक बार फिर से तालियों से गूंज उठा वहीं स्टेज पर विक्रांत के अगल बगल बैठे सीनियर ऑफिसर्स विक्रांत के इस टीम वर्क के बारे में सुनकर बेहद खुश हुए वो लोग भी अपना सिर हिलाते हुए ताली बजाने लग गए अच्छा तो आप लोगों को मैं सारी कहानी बता चुका अब बस इतना कहना है कि आप लोग अपने होनहार ऑफिसर को कभी भूलना मत अच्छी अच्छी न्यूज बनाकर लिखते रहना और मैं हमेशा स्पेशल ऑफिसर आप लोगों की और अपने देश की सुरक्षा में लगा रहूंगा विक्रांत ने थोड़े मजाकिय लहजे में कहा और उसकी बातें सुनकर यहाँ और मौजूद लोग ठाके लगाते हुए हंस पड़े लेकिन विक्रांत यही नहीं रुका बल्कि उसने अपने डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स की तरफ देखकर भी पूछ भी लिया सर आप तो अब तो मैंने इतना बड़ा केस सॉल्व कर दिखाया है अब तो मुझे प्रमोशन और इंक्रीमेंट मिलेगा ना विक्रांत की बात सुनकर सभी सीनियर ऑफिसर भी जोर से हंस पड़े सेंटर से एडी के डायरेक्टर साहब ने तो विक्रांत की तरफ अंगूठा दिखाते हुए उसे प्रोत्साहित भी किया विक्रांत के पूरे केस एक्सप्लेनेशन के बाद अगला राउंड क्वेश्चन एंड आंसर का था जिसमें मीडिया वाले विक्रांत से इस केस के बारे में सवाल जवाब करने वाले थे लेकिन इस सेशन में भी विक्रांत ने अपने जवाब से सबको लोटपुट कर दिया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने अपने मजाकिया लहजे से सभी का दिल जीत लिया था सब उसे एक होनहार और तेज तर्रार डिटेक्टिव समझने के साथ ही बेहद खुश मिजाज इंसान भी समझ रहे थे जो कि विक्रांत के लिए पॉजिटिव ही था सर आपने इतना बड़ा and sensitive serial murder case solve करके दिखाया है सबसे पहले तो इसके लिए आपको बहुत बधाई मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आपने केस के मेन मुजरिम मुख्तार खान को अरेस्ट कर लिया और फिर उसके बाद जब मुख्तार ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया तो फिर उस वक्त आपके मन में क्या ख्याल आ रहा था एक बेहद खूबसूरत लेडी जर्नलिस्ट ने विक्रांत से सवाल किया क्या ख्याल आ रहा था <laughs> विक्रांत ने कुछ सोचने का गैस चल लेते हुए कहा हाँ यही ख्याल आ रहा था कि अब केस सॉल्व हो चुका है तो अब मुझे मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना होगा और आपके जैसे खूबसूरत लड़की के साथ बातें करने का मौका मिलेगा आप अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए मुझे मैं आपको पर्सनली इंटरव्यू देना चाहता हूँ विक्रांत जी आपके चेहरे पर काफी सारे चोट के निशान दिखाई पड़ रहे हैं आपको ये चोट कैसे लगी एक दूसरे जर्नलिस्ट ने विक्रांत से सवाल किया ये चोट आपको इसी केस के चलते लगी है क्या ओ ये चोट हाँ ये तो मुझे डिवीजन चीफ मैडम ने थप्पड़ मार कर दिया था एक्चुअली मैं अपने क्रेडिट को लेकर बहुत एक्साइटेड हो रहा था और मैंने चीफ मैडम से मेडल और प्रमोशन के लिए जिद कर रहा था तो उन्होंने गुस्से में आकर मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया <laughs> विक्रांत ने हंसते हुए जवाब दिया <laughs> मजाक कर रहा हूँ मैं आप लोग सीरियस मत समझ लेना तुरंत ही विक्रांत ने दोबारा बोलना शुरू किया ये चोट एक्चुअली कल एक गैंगस्टर के साथ मुठभेड़ करते वक्त लगी थी जिस केस पर मैं अभी काम कर रहा हूँ उसकी वजह से चोट लगी है बट आप लोग यकीन मानिए उस गैंगस्टर की हालत तो मुझसे भी ज्यादा खराब है शायद बेचारा किसी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहा होगा ये चोट वगैरह तो हम लोगों को लगती रहती है अब ऐसी छोटी मोटी चोट पर ध्यान देने लग गए तो फिर आप लोगों की सेफ्टी कैसे करूंगा विक्रांत ने हंसते हुए कहा रातों रात विक्रांत किसी फिल्म स्टार की तरह मशहूर हो चुका था टीवी चैनल से लेकर न्यूज़पेपर तक हर जगह उसकी ही चर्चा हो रही थी क्योंकि headless female serial murder case काफी मशहूर केस था ऐसे में इस केस को सॉल्व करने के बाद विक्रांत को अलग ही अटेंशन मिल रहा था इस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सेंट्रल सीआईडी द्वारा विक्रांत और उसकी टीम के वेलकम के लिए खास डिनर का भी इंतजाम किया गया था इस डिनर पार्टी में सेंट्रल सीआईडी के लगभग सभी बड़े ऑफिसर्स मौजूद थे विक्रांत उन लोगों से मिल मिलकर और सबकी बधाइयां ले लेकर काफी बोर हो गया था वैसे भी सेंट्रल सीआईडी के ऑफिसर्स के बीच वैसा माहौल नहीं था जैसे कि उसे डीएन नगर पुलिस ब्रांच में काम करते वक्त मिला था वहां पर तो पुलिस वाले पार्टी के नाम पर पागल हो जाते थे पार्टी में सिर्फ खाना पीना नाचना गाना ही होता था वहां पर कोई काम की बात करता ही नहीं था लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा है यहाँ पर लोग पार्टी में सिर्फ केस की बात कर रहे थे सब एक दूसरे से बेहद सीरियस टॉक कर रहे थे विक्रांत अपने मजाकिया लहजे से एक दो बार यहाँ का माहौल बदलने की कोशिश कर चुका था लेकिन फिर भी उसे सफलता नहीं मिली थी वाकई में वो यहाँ काफी बोर हो गया था लेकिन अभी तो बस ये शुरुआत थी क्योंकि इसके बाद अगले चार पांच दिन ऐसे ही गुजरने वाले थे एक के बाद एक करके कई सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस इंटरव्यू स्पीच और फिर वही बोरिंग पार्टी विक्रांत इन सब से बिल्कुल बोर हो चुका था क्योंकि उसने एक के बाद एक कई सारे बड़े बड़े केस सॉल्व कर दिखाए थे ऐसे में वो इस वक्त स्पेशल ऑफिसर्स के साथ ही मीडिया के लिए भी अटेंशन सेंटर बना हुआ था और उससे मिलना चाहते थे उसके एक्सपीरियंस को जानना चाहते थे दरअसल विक्रांत ने जब से सेंट्रल सीआईडी की टीम को ज्वाइन किया है तब से उसने न सिर्फ हेडलेस फीमेल वाले केस को सॉल्व किया है बल्कि मेडिकोर फार्मा का केस फिर वर्कला बीच वाला मर्डर केस और इसी बीच उसने इतफाक से न्यूजीलैंड जाकर जो ट्रेड रिलेटेड सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ला के दिया था उससे तो विक्रांत काफी सारे बिजनेसमैन के बीच भी पॉपुलर हो चुका था अब तक कई बिजनेसमैन तो उसे अपनी कंपनी की विजिलेंस टीम का हेड बनाने का ऑफर भी दे चुके थे लेकिन विक्रांत अब अपनी इस जिंदगी से बहुत खुश था ऐसे में उसने इस तरह के हर ऑफर को ठुकरा दिया था हालांकि उसे सेंट्रल आई का परमानेंट एजेंट बनने का ऑफर भी मिल रहा था जिसे विक्रांत ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया था चार पांच दिनों तक यूं ही इधर उधर की भागदौड़ करते करते विक्रांत बिल्कुल बोर हो चुका था अनजान लोगों से मिलते मिलते वो बिल्कुल थक चुका था ऐसे में उसने यहाँ से छुट्टी पाने के लिए अगले केस पर काम करने का एप्लीकेशन देना शुरू कर दिया वो अब जल्द से जल्द गाजियाबाद वाले मर्डर केस पर काम करना चाहता था उसने इस केस पर काम करने की परमिशन के लिए डिवीजन चीफ मैडम को कई बार मेल कर दिया था लेकिन हर बार डिवीजन चीफ मैडम उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दे रही थी ऐसे में डिवीजन चीफ मैडम से इस बारे में बात करने के लिए विक्रांत सीधे उनके ऑफिस पहुंच गया